Uh, आपान प्रारंभ होगा तो उस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए एक बीच का प्रसंग है ये ज्ञान की स्तुति है बताते हैं कि नचिकेता जिस आत्म तत्व को तुम जानना चाहते हो जम स्वम ज्ञातुम इच्छा से आत्मान तब दुर्दर्शाम जिसको तुम जानना चाहते हो उसका दर्शन दुर्लभ है दक्षिण दर्शनम अस्थि दुर्दर्शा जिसका दर्शन बड़ी कठिनाई से हो तो दुर्दर्श क्यों है दुर्दर्श ये है कि हमारे पास जो दर्शन के कारण है औजार है वो सब बहिर्मुख है परां की खानी यत्रिण स्वयंभू तस्मात पराम पश्यति नान्तरात्मन विधाता ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो हमारी इंद्रियों को बाहर की चीज देखने वाला बना दिया आत्मा जो है वो कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं वो तो स्वयं है तो हम आंख से नीला काला पीला तो देख सकते हैं परंतु आत्म वस्तु को आंख से नहीं देख सकते ये जो स्त्री नाम है या पुरुष नाम है ये आंख से तो नहीं दिखाई पड़ता हो ये तो कोई कल्प ऐसा था जिसमें दाढ़ी मूछ वाले पिता का नाम स्त्री था और दाढ़ी मूछ रहित गर्भ को धारण करने वाले व्यक्ति का नाम पुरुष था ऐसा कोई कल्प था इस कल्प में हम लोगों के दिमाग में ये संस्कार भर दिया गया कि जो गर्भ धारण करे तो स्त्री और जो गर्भाधान करावे तो पुरुष ये नाम अब की बदल दिए गए हैं तो आज से स्त्री पुरुष नहीं दिखता है आज से तो काला रंग लाल रंग पीला रंग नीला रंग हाँ, लंबी आकृति गोल आकृति नाटी आकृति ये सब दिखता है बोले जाति एक समय ऐसा था जब आज जिसका नाम ऊट है उसका पहले नाम मनुष्य था और जिसका आज नाम मनुष्य है उसका पहले नाम ऊट था बोला नाम तो बदलते रहते हैं रूप बदलते रहते हैं क्रिया बदलती रहती है मनुष्य तो इंद्रियों के चक्कर में पड़ गया और अपने संस्कार में इतना दृढ़ हो गया इतना पक्का हो गया कि उसके संस्कार को बदल कर अगर कोई बात कही जाए तो वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होगा तो इंद्रियां हमारी बाहर देखती हैं बाहर सुनती हैं बाहर सूंघती हैं बाहर स्वाद लेती हैं बाहर सुनती हैं इनके भीतर बैठ करके कौन दृष्टा है कौन श्रोता है कौन मनता है कौन विज्ञाता है इस बात की पहचान इंद्रियों से थोड़ी होती है अच्छा आप बताओ आपकी आंख की पुतली कैसी है बोले हमने शीशे में देखी हमारा अगर शीशे में क्यों देखी अपनी आंखें से देख लेते उसमें शीशे की जरूरत क्या पड़ी इसका अभिप्राय है कि जो अत्यंत निकट वस्तु होती है और जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु होती है, है उसको देखना बड़ा कठिन होता है जो मन के पीछे रहकर मन को प्रकाशित कर रहा है हृदय के पीछे रहकर हृदय को प्रकाशित कर रहा है जो हृदय का अधिष्ठान है हृदय की कल्पना जिसमें हुई है हृदय की कल्पना का प्रकाशक है हृदय की कल्पना का अधिष्ठान है स्वयं हृदय रूप में भाग रहा है वो अपना आत्मा कौन है उसको क्या टार्च की रोशनी में देखोगे सूर्य की रोशनी में देखोगे इंद्रियों की रोशनी में देखोगे उसको देखना बड़ा मुश्किल है वही खाते का काम देख सकते हो भाई अणु परमाणु को जान सकते हो जो भी अलग छोटी छोटी चीजें होंगी उनको तुम यंत्रों से जान सकते हो परंतु जंत्रों में से जो झांकने वाला है हृदय यंत्र के भीतर रहकर जो उसमें से झांकता है उसको कैसे जानोगे कश्चित धीर प्रत्यगात्मान अमीक्षद आवृत चक्षु अमृता तो अमिच्छा कोई कोई धीर पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अपने आत्मा का दर्शन होता है इनको होता है आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा बाहर देखने वाली इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उसको शांत करके और संपूर्ण मरने वालों में अमर की जब जिज्ञासा होती है सचमुच जब अर्थ की धर्म की काम की इच्छा नहीं रहती है अमृतत्व अनुष्ठान जब केवल अमृतत्व की इच्छा होती है तब उसका पता लगता है इसलिए लोग तो बाजार देखने में लगे हैं रमैया के दुल्हे लूटा बाजार लोग तो माया का खेल देखने में लगे हैं मदारी की घंटी सुनने में लगे हैं अपने आप की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है इसलिए कम दुर्दर्शन ये परमात्मा देव दुर्दर्श हैं क्यों बोले गूढ़ मनु प्रविष्ट ये छिप करके ऊढ़म ऊढ़म माने गुप्त रूप से छिप करके सब में अनुप्रविष्ट है मतलब तो पानी में शक्कर की गली डाल दी और बोले ढूंढो इसमें समुद्र में नमक की गली डाल दी कि तो ढूंढो इसमें हाँ। गूढ़ अनुप्रविष्टा सबके भीतर गूढ़ होकर के गूढ़म दशा दशा क्या तथा अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विज्ञान ही प्रच्छन्नम तो जहां हम जाते हैं प्राकृत विषय को देखने लगते हैं प्राकृत माने जिस जो सबको आकृति देने वाली है वो उसको प्रकृति बोलते हैं प्राकृत क्या है प्रारंभिक आकृति जिससे प्राप्त होती है है ना उसको प्रकृति बोलते हैं माने जिससे मनुष्य प्राकृत हो जाता है प्राकृत क्या देखेंगे आंख की बनावट देखेंगे चमड़े का रंग देखेंगे मनुष्य की बुद्धि स्वाद जानेगी गंध जानेगी रिश्तेदार नातेदार जानेगी अपना पराया जानेगी दोस्त दुश्मन जानेगी वो वस्तु जो दोस्त में और दुश्मन में दोनों में एक है वो आपने देखी जो गुण और दोस्त दोनों में एक है जो पाप पुण्य दोनों में एक है जो सुख दुख दोनों में एक है जो जागते सोते दोनों में एक है हम प्राकृत विषय जो है प्राधारा देखो खिलौना देखने जाते हैं तो किसकी बनावट अच्छी है किसकी खराब है ये देखते हैं दोनों खिलौनों में एक कौन सी चीज है इसको नहीं देखता अब दोनों में माटी है दोनों में लकड़ी है दोनों में सोना है दोनों में चांदी है इस बात को कहाँ देखते हैं काम दुर्दर्शन गूढ़ मनो प्रवेश आप देखो जितने मुंड है ना यहाँ स्त्री के पुरुष के सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं और क्या उस वस्तु पर ध्यान जाता है जो सब में एक है है सब में एक ऐसी चीज है जो सब में है परंतु हम तो शरीर को देख करके शरीर को ही प्राकृत बोलता है तो प्राकृत जो विषय है इसका वजन कितना तो वजन प्राकृत है कि नहीं कौन मोटा कौन दुबला कौन लंबा कौन नाटा अच्छा ऐसा देखते हैं कि कौन गुणी और कौन दोषी अच्छा ऐसा देखते हैं कि कौन बुद्धिमान और कौन मूर्ख तो ये बुद्धिमान होना या मूर्ख होना ये प्राकृत दृष्टि है वो प्राकृत वस्तु है बुद्धि तो प्रकृति का प्रकृति का विकार है तो ये देखना कि ये बुद्धिमान है कि मूर्ख है ये ज्यादा शांत रहता है कि ज्यादा विक्षिप्त रहता है क्या देख रहे हो आत्मा अरे शांत और विक्षिप्त तो प्रकृति ही रहती है ये जहाँ सत्गुण की प्रधानता है वहाँ शांति है जहाँ रजोगुण की प्रधानता है वहाँ चांचल्य है जहाँ तमोगुण की प्रधानता है वहाँ मूढ़ता है तो ये जो मूढ़ होता है वो गूढ़ को नहीं देख पाता हाँ। मूढ़ता और गूढ़ता ये परस्पर विरोधी है हो तो दुनिया में लोग क्या देखते हैं कि इनकी आंख बंद रहती है कि खुली ये समाधि में रहते हैं कि विक्षेप में आकृति देखते हैं प्रकृति देखते हैं विकृति देखते हैं संस्कृति देखते हैं तो ये तो सब अलग अलग होता है तो प्राकृत विषयों के विज्ञान के कारण अलगाव की परीक्षा हम करते हैं अलगाव की निरीक्षा हम करते हैं है? इसलिए सब में विद्यमान जो परमात्मा है उसका दर्शन हम नहीं कर पाते तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहिताम जैसा परमात्मा है कहा बोले मनु तो छिप के सबके भीतर है है सबने बाल बाल में है वो हाँ वो बाल में है वो खाल में है हाँ। तो सबके अंदर छिपा हुआ है तो देखने में क्यों नहीं आता है तो देखने में यो नहीं आता कि बुद्धि आत्मदेव का दर्शन करने में कहा प्रवृत्त होते हैं तो वो तो चाहती है कि ऐसी चीज देखें जो खाने में आवे जो पहनने में आवे जो तिजोरी में रखने में आवे जो सोने में आवे है ना जो अपने बच्चों के काम आवे ऐसी चीज ढूंढने में बुद्धि लगी हुई है सच्ची चीज तो बुद्धि ढूंढती कहाँ है तो गुहाभितम का अर्थ है कि बुद्धि गुहा में वो बैठा हुआ है जो वेद निहितम गुहायाम परमे दियोमान नारायण तैतरीय उपनिषद में ये श्रुति आई जो वेद निहितम गुहायाम जैसे सिंह गुहा में रहता है वैसे आत्मदेव भी गुहा में रहते हैं गुहा में तो गुहा क्या है बाहर में गुफा होती है ना गुफा उसी को तो गुहा बोलता है तो ये बुद्धि गुहा है वो बुद्धि गुहा हाँ। ये बात है कि गुहा में अगर शेर का पता न लगे तो उसमें जीदड़ रहते हैं उसमें खरगोश रहते हैं उसमें स्याही रहती है और हाँ, एक बार संग धार रहे महाराज सब भाग जाए तो बुद्धि का अभिप्राय क्या है गुहा गुहा माने बुद्धि हमारी बुद्धि जब किसी चीज को देखती है स्मरण तो उसको भीतर की रोशनी की जरूरत होती है ऐसे देखो कि जैसे हम आंख से जब घड़ी देखते हैं तो भले यहाँ बल्ब न जल रहा हो सूर्य की रोशनी न दिखे बादल छाए हुए लेकिन हम घड़ी को कब देख सकेंगे आपसे जब रोशनी होगी हमारी आंख अध्यात्म है और रोशनी अधिदैव है और घड़ी अधिरूप है तो बाहर की वस्तु देखने के लिए घड़ी देखने के लिए किताब देखने के लिए लाउड स्पीकर देखने के लिए स्त्री पुरुष देखने के लिए हमें आंख के लिए रोशनी की जरूरत है कि नहीं है अब देखो आपको बुद्धि से कोई बात समझनी है तो कभी आपने इस बात पर ध्यान दी ध्यान दिए इस बात पर इस बात पर कि जब बुद्धि हमारी ये पाप है ऐसा निर्णय करती है ये पुण्य है ऐसा निर्णय करती है ये मित्र है ये शत्रु है ऐसा निर्णय करती है और ये सुख है ये दुख है ऐसा निर्णय करती है तो बुद्धि में ही तो निर्णय होता है ना आदमी अकल से ही तो ये बात समझता है तो बुद्धि जैसे आग से कोई वस्तु देखने के लिए रोशनी चाहिए वैसे बुद्धि से समझने के लिए भी भीतर एक रोशनी की जरूरत पड़ती है एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है जैसे टार्च में बिजली आती है जैसे दीपक में अग्नि आती है जैसे कांच में सूर्य की रोशनी आती है ऐसे आपकी बुद्धि रूप गुहा में कहीं से रोशनी आती है और जिस रोशनी में आप संसार के सब वस्तुओं का निर्णय करते हैं अब बोलो वो रोशनी कौन सी है जिसमें बुद्धि सत्य का निर्णय करती है न्याय का निर्णय करती है सुख दुख का निर्णय करती है शत्रु मित्र का निर्णय करती है पाप पुण्य का निर्णय करती है कर्तव्य या कर्तव्य का निर्णय करती है बुद्धि तो आपके लिए तो आपको रोशनी चाहिए परंतु बुद्धि से निर्णय करने के लिए रोशनी नहीं चाहिए अरे लो ईश्वर का दर्शन करो ना वो ईश्वर की रोशनी है जो जिसकी रोशनी है जिसके प्रकाश में आपकी बुद्धि निर्णय करती है अब होता क्या है महाराज होता ये है कि जैसे हम रुमाल देखते हैं आप समझो आंख से बच्चे से पूछा कि क्या देखते हो बोले रुमाल बोले और कुछ है कि रुमाल ही है बोले नहीं हमको तो रूमाल ही है और कुछ नहीं दिखता तो बोला बिना रोशनी के रूमाल दिखेगी लेकिन बच्चे से हजार बार पूछो कि रूमाल के सिवाय और कुछ है, हैं? तो उसका ध्यान रोशनी पर नहीं जाएगा वो तो रूमाल ही देखेगा तो हमारी जो बुद्धि है वो जिस रोशनी में देख रही है उसको तो भूल जाती है बोला और जो चीज दिखती है उसका ख्याल रखते हैं ये घड़ा है ये कपड़ा है ये कर्तव्य है ये कर्तव्य है ये पाप है ये पुण्य है बुद्धि जिसको देखती है ना उसका तो ख्याल रखती है लेकिन जिसकी रोशनी में देखती है उसको ख्याल नहीं रखती है उसका ख्याल नहीं रखते कैसे लेकिन तो जैसे बच्चा तो देखो बच्चे को आग जलती हुई दिखे तो ये बड़ी अच्छी है सुंदर है ये तो बच्चा देखेगा परंतु इससे हाथ जल जाएगा ये नहीं देखेगा तो बच्चे की बुद्धि जो है वो आपात दर्शनी होती है जहाँ नजर गिरी उसी को देख रहा है नजर जिससे देख रही है उसको बच्चा नहीं देख रहा है तो ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है ये गुहा माने बुद्धि में निहित है निहित है माने स्थित है लभ्य मानसवाद इसकी उपलब्धि कहाँ होती है तो इसकी उपलब्धि होती है बुद्धि में आप बुद्धि में विषय और प्रकाश दो चीज है और आप विषय को देखते हो और प्रकाश को नहीं देखते हो अच्छा अब देखो एक बुद्धि है और एक प्रकाश है तो आप बुद्धि को देखते हो प्रकाश को नहीं देखते हो जब विषय और बुद्धि दोनों को बच्चे खाते में कर दो देखो केवल प्रकाश ही प्रकाश है परमात्मा का दर्शन होगा हो परमात्मा के दर्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बना ये लोग जो समझते हैं कि अमुक स्थान में जाने पर परमात्मा मिलता है वो गलत है हाँ, ये जो सोचते हैं कि अमुक समय पर परमात्मा मिलता है तो वो भी गलत है तो ये जो सोचते हैं कि अमुक कर्म के फल स्वरूप मिलता है तो ये भी गलत है ये जो सोचते हैं कि अमुक अमुक स्थिति में मिलता है तो वो भी गलत है परमात्मा तो दिया हम शोध है हम अपनी बुद्धि से विचार से ये देखो कि धी जन्म प्रविभाग क्षय है का प्रकाशक कौन है बुद्धि का उदय बुद्धियों का अलगाव और बुद्धियों का क्षय ये किसकी रोशनी में दिख रहा है देखो सुसुप्ति काल में बुद्धि काम नहीं करते थे जब जगे तब बुद्धि का उदय हुआ और फिर ये स्त्री है ऐसी बुद्धि हुई ये पुरुष है ऐसी बुद्धि हुई ये घड़ी है ऐसी बुद्धि हुई ये पुस्तक है ऐसी बुद्धि हुई ये बुद्धि का विभाग हो गया और फिर बुद्धि शांत हो गई तो बुद्धि का उदय बुद्धि का विभाग और बुद्धि का क्षय भावे हम सर्वमिदम विभाति लये हमो नहीं विभाग चिंतित जब हम भाव का उदय होता है तो सब भाजता है और जब हम भाव का लय हो जाता है तो कुछ नहीं भागता है, तो ये अहम भाव के मूल में बैठी हुई जो चीज है जहाँ से अहम महा महाम भर है अहम साक्षात ब्रह्म रूपेणा भावी इस बुद्धि रूप गुफा में जो अहम महाम भर है ये हरि है आम वाहन जो बोलता है ना वो हरि है वो सिंह है वो ब्रह्म है आहा महा महम हमको एक महात्मा ने बताया कि जैसे दाल पकाने के लिए आग पर चढ़ाते हैं ना तो वो खुदकती है खुदर खुदर करती है ना दाल पकती है वो इसे अपने हृदय में एक फुदुर फुदुर हो रहा है अहम अहम अहम हो रहा अहम अहम अहम अहम अच्छा तो जो फुदर फुदर बोलता है वो कौन है वो पानी है ना वो गर्मी और पानी गर्मी के कारण पानी खुदर खुदर कर रहा है हाँ, ऐसे बुद्धि के संबंध से चैतन्य जो है वो अहम अहम अहम ऐसा बोल रहा है बुद्धि के संबंध को काट दो तो ये जो शांत अहम है चैतन्य है न तुम्हारी बुद्धि में स्थित जो स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक चैतन्य है न जैसे वो कौन है एक अद्भुत बात है गहवरेशम जैसे कोई आदमी जंगल में फंस जाए उसमें चिड़िया भी बहुत होए जानवर भी बहुत होए पशु भी बहुत होए कीड़े मकोड़े भी बहुत होए पेड़ पौधे भी बहुत होए कहीं आग लग रही हो कहीं बर्फ हो जंगल में पहाड़ में आदमी फंस जाए कहीं नदी बह रही है कहीं मच्छर है कहीं मक्खी है पर वहाँ वो मनुष्य एक है कि नहीं अकेला है वो आदमी इसी प्रकार ये जो गहबर है नानात्व का गहबर ये नानात्व का गहबर है अनर्थ संकटे इसमें ये रोग आया तो ये मृत्यु आई ये संबंधी का वियोग हुआ ये संयोग हुआ ये शत्रु का संयोग हो गया ये मित्र का वियोग हो गया ये बुढ़ापा आ गया ये रोग आ गया ये मृत्यु आ गई अनेक अनर्थ संकुल आंख ने कहा वहां चल कान ने कहा वहां चल नाक ने कहा वहां चल जीव ने कहा वहां चल त्वचा ने कहा वहां चल ये अनेक अनर्थ जो जीवन के साथ लगे हुए हैं वह भी कपत नहीं वह देह पतन लुनंती जैसे बहुत सारी सौतें हों है और घर के मालिक को पकड़े एक पाव पकड़े एक हाथ पकड़े एक चोटी पकड़े एक कपड़ा पकड़े और बोले इधर चलो इधर चलो इधर चलो इसी प्रकार ये संसार में जो बहुत सारी इंद्रियां बहुत सारी वृत्तियां बहुत सारे विषय है ना जिसके पीछे पड़े हुए हैं ना ये अनेका लक्ष्य संकुल इस प्रपंच में जो अकेला है वो अखंड वो अद्वय वो अपरिच्छिन्न जिसमें सब मिट जाते हैं और जो अकेला रहता है पुराणम कैसा है तो भाई गूढ़ मनु प्रविष्ट है गुहाहित है गहवरिष्ठ है इसलिए ये दुर्दर्श है इसको देखना बड़ा कठिन ऐसा वो ऐसा जो पुराण तत्व है पुराण माने हाँ, हाँ ये सबसे पुराना है ये अद्भुत लीला है विज्ञान सबसे बढ़िया तो, तो जो सबसे नया हो है और ज्ञान सबसे बढ़िया कौन है जो सबसे पुराना हो आत्मज्ञान सबसे पुराना माने ऐसा नहीं समझना कि जैसे तुम्हारे घर में कोई वृद्धा है हाँ, तो अस्सी बरस नब्बे बरस सौ बरस का है बोले सबसे पुराना घर में जो वृद्धा है वृद्ध है अच्छा, इसी प्रकार इस संसार में जो सबसे पुराना है ऐसे नहीं समझना ऐसे समझना ये आंख है ना इससे पहले कौन है देखने वाला है तब आंख है कि आंख है तब देखने वाला है आंख का होना ही देखने वाले से सिद्ध होता है अगर देखने वाला ना हो तो आंख सिद्ध नहीं हो सकती हो अच्छा ये हाथ जो है करता हो तब सिद्ध होता है ये हृदय जो है ये ज्ञाता हो तब सिद्ध होता है तो ये अलग अलग सूर बने हैं ना जैसे घर में कई खेती हो तो आपकी खेती पर बैठ के रूप देखो कान की खेती में बैठ के संगीत सुनो नाक की खेती में गंध लो जीव की खिड़की में स्वाद लो त्वचा की खिड़की में स्पर्श लो मन की खिड़की में संकल्प विकल्प करो बुद्धि की खिड़की में विचार करो लेकिन ये खिड़कियां जब नहीं थी तब भी ये था और ये जब नहीं रहेगी तब भी ये रहेगा और ये जब है ना तब भी यही है तो पुराण का अर्थ है कि ये शरीर नवत द्वारे पूरे देवी इस नौ दरवाजे वाले नगरी में तेजी रहकर इसको जीवन दान दे रहा है उस पुराण को पकड़ो पुराण को पुराने की भी जरूरत होती है बिना पुराने के है ना अनुभवी पुरुष के बिना नए लोग अपने को संकट में डाल देते हैं दैव दैवम् हर्ष हर्षशोकौ जहाति अध्यात्मयोगाभिगमेन दैवम् इस पुराण तत्व को ये पुराण भी है ये प्राण भी है पूर्व को जो उज्जीत करे उसका नाम पुराण जिसके होने से ये शरीर जीवन वाला मालूम पड़ता है और टूट जाए संबंध बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिजली का पता ही न लगे बिजली है पर बल्ब फ्यूज हो गया ये हृदय जो है ना ये मस्तिष्क जो है ना ये सब बल्ब है हो शरीर में हाँ। एक दूसरे से संबद्ध बल्ब की तरह है और आत्मदेव जो है वो बिजली की तरह तो जब आदमी मरता है ना तो आत्मा निकल के कहीं जाता है आत्मा तो ज्यो का क्यों शरीर ही रहता है अरे वो क्या नाम है शरीर के बाहर भी वही है शरीर में भी वही है आना जाना तो उसमें होता है जो एक जगह होवे और एक जगह ना होवे ये जो अपना ख्याल बन गया है कि शरीर में हम परिचन्न हैं इसी के कारण अपने में आने जाने की कल्पना हो गई है तो ऐसा समझो कि जो लोग अंत अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को ना प्रमाता मानते हैं उनके मत में भी उस अवच्छिन्न चैतन्य का गमनागमन नहीं होता क्योंकि वो अवच्छिन्न चैतन्य तो ब्रह्मा भिन्न नहीं है अंत करना अवच्छिन्न चैतन्य हाँ, तो ब्रह्मा भिन्न नहीं है तो वो कहीं आता जाता नहीं न नरक में न स्वर्ग में आ, हाँ, न बैकुंठ में न है ना न दूसरे शरीर में तो सब क्या होता है तो उसका अवच्छेदक जो अंतकरण है ना जिसके कारण चैतन्य जो है वो अंतकरणावच्छिन्न प्रमाता के रूप में बांट रहा है तो भ्रांति तो मिटी नहीं है अंतकरण में समझते हैं कि हम परिच्छिन्न है अब अंतकरण पाप पुण्य के अनुसार जिस आकार को ग्रहण करता है मन अंतकरण की जैसी आकृति होती है उसी में तादाद में हो जाता है जाना कहीं नहीं नरक अपने दिल में बन जाता है स्वर्ग अपने दिल में बन जाता है बैकुंठ अपने दिल में बन जाता है स्वप्न जैसे स्वप्न अपने अंतकरण में बनता है ऐसा और दृष्टि बाद में तो सारी सृष्टि ही अपनी दृष्टि में बनी हुई है उसमें भी आना जाना नहीं है और कि आना जाना केवल आभास और प्रतिबिंब का ही है हमारे वस्तु तत्व का आना जाना नहीं है तो यदि आप अपने को पापी पने से मुक्त करना चाहते हो पुण्यात्मा पने से मुक्त करना चाहते हो सुखी पने से दुखी पने से मुक्त करना चाहते हों अपने को किसी का दोस्त दुश्मन बना करके जलना न चाहते हो तो आप अपने को जानो कि मैं कौन हूँ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम मत्वा जीवो हर्ष शोक जहाती विषय प्रति समृत्य चेतस आत्मनि समाधान अध्यात्म योगा आप जरा अपनी जगह पर आ जाइए इसका इसका ही अर्थ है अध्यात्म योगाधिगम विषय प्रतिष्ठ तो संवृत्तियों चेतस आत्मनि समाधानम अपने स्थान पर आ जाने आ जाओ तो क्या हुआ अपने स्थान पर आना क्या हुआ कि आंख जो है ना जरा अपने गोलक को छोड़ करके अलग चली गई है इसके रहने की जहाँ जगह है ना वहाँ जरा इसको रहने दो मन जहाँ रहना चाहिए मन का घर आपको मालूम है ना मन कहाँ रहता है अच्छा इतने कर लो कि मन शरीर से बाहर न जाए है? हाँ। मन अपने गोलक हृदय से बाहर न जाए अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है शरीर के भीतर आत्मनि शरीर एवं अध्यात्मा आप ये जो इंद्रियां हमारी बाहर के विषयों को लूटने के लिए जाती हैं या काटने के लिए जाते हैं उनका ये लूटने और काटने के लिए जाना बंद करके एक बात ध्यान में ले आओ तुम तीन में से एक बात का विचार करते हो तुम्हारे विचार को हम मर्यादित कर देते हैं या तो ईश्वर के बारे में सोचते हो भ्रष्ट हो तो और विषयी हो संसारी हो तो संसार के बारे में सोचते हो या जीव के बारे में अपने सुखी बने दुखी बने के बारे में सोचते हो इन तीन बातों को छोड़ करके कोई चौथी बात का विचार आपके मन में आता है देखो सारे विचार का वर्गीकरण करके तीन में डाल दिया ना सारे ईश्वर का विचार जीव का विचार और जगत का विचार हड्डी मांस काम का विचार दोस्त का विचार दुश्मन का विचार स्त्री का विचार पुरुष का विचार ये सब क्या है ये जगत का विचार है? तीन बात को छोड़ करके चौथी बात तो आपके ध्यान में कभी नहीं आती होगी तो संसार में जितने दर्शन शास्त्र हैं उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा शांत योग न्याय वैशेषिक जैन बौद्ध चारवाक है ये तो दर्शन है हो आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन श्रद्धा दर्शन विज्ञान दर्शन ईसाई और मुसलमान और पारसी है ना ये श्रद्धा दर्शन है ना और ये मास्क फैसले है ना और जो वो विकासवादी है बोला ये सब तो भौतिक दर्शन है तो भौतिक दर्शन आध्यात्मिक दर्शन सब दर्शनों में जो कुछ वर्णन है उनको सिर्फ तीन विभाग में कर दो ईश्वर के बारे में जीव के बारे में और जगत के बारे में तीन ही तो बात है ये तीनों का विचार कहाँ होता है सब दार्शनिकों को समेटो किसका दर्शन सच्चा चार बात का जैन का बौद्ध का न्याय वैशेषिक का योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है ना विकासवादी विकारवादी सोपादानवादी निरूपादानवादी जड़वादी है जड़ा नैत्यवादी और भिन्न भिन्न प्रकार के इन सब दर्शनों का उपसंहार करो कहा केवल श्री ईश्वर जी या जगत इन तीनों का विचार कब तक होता है जब तक अहम बुद्धि होती है हो। जब तक हम देहात्थ बुद्धि के साथ तादाद में रखते हैं तब तक इन तीनों के बारे में विचार करते हैं तो सर्वोत्तम निष्ठा कौन सी होगी सर्वोत्तम अति पुण्य निष्ठा सर्वोत्तम निष्ठा वो है जहां अहम बुद्धि छूट जाए हाँ। स्वयं प्रकाशात्म विज्ञान के द्वारा है ना जीव का विचार करने वाली ईश्वर का विचार करने वाली जगत का विचार करने वाली जो बुद्धि है ना उस बुद्धि उस बुद्धि के साथ जो तादाद में है यह मैं और यह मेरी और यह मुझमें कुछ है पत्थर की गली गली की अपने स्वरूप ज्ञान से उसका बात हो जाना यही सर्वोत्तम यही सर्वोत्तम निष्ठा है इससे बढ़ करके सृष्टि में और कोई निष्ठा नहीं है अध्यात्म दुर्गा दिगमेन देवम आओ विचार करो इस निष्ठा पर चलो भाई मुक्ति चाहिए अरे आजकल मुक्ति चाहने वाले तो है ना दुर्लभ है लोगों को अर्थ चाहिए कार कल कार खाना चाहिए भोग चाहिए है ना आजकल मुक्ति चाहिए में एक ही मुक्ति लोग चाहते हैं कौन से ये तलाक देना हो आजकल के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो स्त्री पुरुष की परस्पर मुक्ति चाहते हैं हम बंधन में न रहे हम बंधन में न रहे तो देखो मुक्ति एक वैसी होती है रूपिणी जिसमें हम सखा सखी दास सेवक मन से कुछ भगवान के धाम में जाएं उपासक लोग ऐसी मुक्ति मानते हैं एक अरूपिणी परमात्मा के साथ मेरा आचार साकार किसी के साथ एक सायुज को प्राप्त हो जाए है ना और कभी रूपिणी हो जाए रूपिणी मुक्ति मिले कभी रूपिणी मिले उभयात्मिका मुक्ति चाहिए बोले नहीं नहीं इसका नाम मुक्ति नहीं है रूप होने का नाम मुक्ति नहीं अरूप होने का नाम मुक्ति नहीं रूपा रूप होने का नाम मुक्ति है और देखो सच्ची मुक्ति किसको कहते हैं इन तीनों मुक्तियों का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है ना बुद्धि मुक्ति रूप वाली की अरूप वाली की रूपारूप वाली इसका विवेचन करने वाली कौन सारे देश में बैठी हुई बुद्धि अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप के ज्ञान से उस बुद्धि का बाधित हो जाना यही परमार्थ मुक्ति है मुक्ति तो अपना स्वरूप ही है वो अपने स्वरूप का नाम मोक्ष है साधन साध्य का नाम मोक्ष नहीं है प्राप्त का नाम मोक्ष नहीं है आप्य का नाम सत्कार्य का नाम विकार्य का नाम है ना उत्पाद्य का नाम मोक्ष नहीं है मोक्ष तो अपना आपा है तुम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो तो अध्यात्म दुर्गा से गमेना जरा आ जाओ अपने साथ अपना आपा क्या है इस प्रकार तेल मत्वा देवम आत्मान अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा समझो के भीतर यंत्र कैसे काम कर रहे हैं ये बुद्धि क्या है इस बुद्धि को तो समझो जहाँ इस परमात्मा का ज्ञान होता है देवम देव मन स्वयं प्रकाश देव जी यति क्या क्या चमक रहा है अपना आत्मा हीरे से भी ज्यादा उज्जवल और आकाश से भी ज्यादा विशाल देश से भी बड़ा लंबाई चौड़ाई में देश से बड़ा अधिष्ठान है बड़ा और उम्र में बोले काल से बड़ा आत्मा की उम्र कितनी बोले काल का जन्म और मृत्यु होता है आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता काल की लंबाई चौड़ाई होती है आत्मा की लंबाई चौड़ाई नहीं होती अनंत कोट ब्रह्मांड की मूलभूता जो प्रकृति है उसमें वजन हो सकता है परंतु आत्मा में ये वजन नहीं होता ना सब वजनों से बड़ा वजन तो इसको यदि विचार करो तो क्या होगा मत्वा धीरो हर्ष शोक जहाती सबसे बड़ा तो कष्ट ये है दुनिया में वही क्षण में हृष्ट और क्षण में ग्रस्त दिन भर में कितनी बार रोना और कितनी बार हंसना कि क्या मनुष्य सत्य युवा सत्य निव मरते सत्य से सत्य निवा जायते पुनः सत्य युवा मरते सत्य से सत्य निवा जायते जैसे धान एक बार बोया जाता है और फिर पकता है धान की पौध उगती है और पकती है बिल्कुल पौधे की तरह पौधे की तरह आदमी पैदा होता है और मर जाता है कच्चा हुआ कच्चा पैदा हुआ जवान हुआ प्रौढ़ हुआ पक गया और पक के फिर नष्ट हो गया ये आदमी की जो गति है ये तो बिल्कुल जड़ तरीकी जड़ तरीकी हो गई है हाँ। जैसे पूरी बेली कड़ाही में पकाई और फिर खा गए इसी तरह से काल जो है भूतान काल प्रकृति की वार्ता संसार में एक ही तो व्यापार चल रहा है कौन सा व्यापार चल रहा है दुनिया में मातर तो गर्दी परिवर्तनेना सूर्याग्निना रात्र देवेन ना अस्मिन महामोहमय कटाए भूता निकाला पचती की वार्ता संसार में सबसे बड़ा व्यापार क्या हो रहा है बोले मास महीने और ऋतु इनकी कलछी से सब लोग पलटे जा रहे हैं सूर्य की आग जल रही है और रात दिन का ईंधन डाला जा रहा है और मोह की कढ़ाई में सारे प्राणी पकाए जा रहे हैं और पता कौन रहा है तत्काल अरे भाई इस मोह की कड़ाही में से जरा उछल पड़ो ना मोह की कड़ाही में से निकलो प्रत्युत नहीं अच्छा अनागत दिखाता न हो तो प्रत्युत्पन्नमति तो हो गए ना एक कथा आती है एक तालाब के पास गड्ढा था बड़ा तालाब तो बड़ा था पर उसके पास गड्ढा था उसमें बहुत सी मछली वर्षा ऋतु में आ गई थी तो एक दिन मछली मारने वाला आया और देख देखने लगा कि ये गड्ढे में पानी कितना है मछली कितनी है अरे कैसे इनको फसाना तो कुछ मछलियों ने देखा तो बोले बाबा यार ये मछुआ आया है हम लोगों की ओर झाक रहा है देख रहा है ये कल आके सबको मार ले जाएगा तो कुछ मछली तो ऐसी थी जो उसमें से उछल के बड़े तालाब में चली गई हो तो उनको अनागत बुझाता बोलता है दूसरे दिन जाल लेके वो आया गड्ढे में से मछलियों को पकाने के लिए तो जो कुछ मछलियों ने देखा है ना तो तुरंत उन्होंने हाँ, उछल के हाँ, यहाँ को वहाँ अपने को कर लिया प्रत्युत्पन्न मती तत्काल बुद्धि का उदय हो गया उनको वो बाहर निकल गए और कुछ ऐसी थी दीर्घ सूत्री बोले आज ही पकड़ेगा ये कोई जरूरी थोड़ी है फिर कभी आवेगा तब तक देखेंगे है ना सो तो महाराज उसने तो जाल दिखाया और सबको पकड़ लिया तो ये काल जो है वो सबके पीछे लगा है इसमें आप जीव जगत ईश्वर के विचार में लगे मत रह जाइए बुद्धि को पकड़े मत रहिए इस बुद्धि को छोड़िए सदा बंदा कैसे फंसता है छोटे के बर्तन में चना डाल के धरती में डाल दिया और वो बंदर आया महाराज उसने अपना हाथ डाला और मुठी भर चना लिया और वो चना ले करके हाथ उसका निकलता नहीं तो चना छोड़ता नहीं हाथ निकलता नहीं और क्या हुआ पकड़ने वाले मदारी में आके और हाँ, पकड़ लिया अगर वो चना छोड़ देता तो उसका हाथ निकल जाता तो ये मोह की सृष्टि में मतवा धीरो हर्ष से करूँ जहाती हर्ष और शोक के चक्कर में पुरुष फंस गया है इस अपने आप को जान लेना है ना मुक्ति पाना है इस चक्कर से भी छूट जाना है ये बताया शंकराचार्य भगवान ने बताया कि जो पुरुष अपने आप को जान लेता है वो हर सोकर उत्कर्षा उत्कर्षा पकड़ हो अभाव जहां बोले देखो एक पौधा हो जाना ये बहुत छोटी स्थिति है अत्यंत अवकाश है और हृदय गर्भ हो जाना तो ये सबसे बड़ी स्थिति है परंतु का अधिक जो पर ब्रह्म परमात्मा है अपने स्वरूप का ज्ञान है वो मत है ना वो एक फौज जैसी नीची स्थिति नहीं है और एक रणगर्भ जैसी नीची स्थिति नहीं है तो अपने छोटा होने का वहाँ दुख नहीं है और अपने बड़ा होने का अभिमान नहीं है इसलिए हर्ष और शोक असल में दोनों दुख है क्योंकि एक चीज जो आज हर्ष देती है वो कल शोक देगी और जो आज जो चीज शोक देती है वही कभी न कभी हर्ष देगी ये तो सृष्टि तो बदलती रहती है तो हर और शोक के बंधन से वो पुरुष मुक्त हो जाता है जो अपने स्वयं प्रकाश आत्म तत्व को जानता है बोला जवानी सुख देती है ठीक है लेकिन बुढ़ापे में वही शरीर भारी हो जाता है बोला बचपन में दुख होता है परंतु जवानी में वही सुख देता है सृष्टि ऐसे सृष्टि ऐसी बदलती रहती है वो तो इसमें ये बदलने वाली सृष्टि में जो आग्रह विशेष है असल में वही दुख देता है और वो आग्रह कौन होता है अपने स्वरूप के अज्ञान से इसलिए जिसको आत्मदर्शन हो जाता है वो पुनर्जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक है ना वो हिरण्य लोक और पौधा होना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होने का जो सुख और दुख है तो उससे वो मुक्त हो जाता है तो ये बात अब आपको कल सुनाऊंगा Thank you.